ऊपर और वे भगवान राम की कुल से आरोप करके आ गए और सुबेद पर्वत के आकर लेकिन कितना सब करने पर भी कार्य नहीं के लेकिन भगवान श्री राम जी वो शक्तिशाली तो है लेकिन कार्मिक कार्मिक मैंने करना नहीं भक्त के बल की शोभा तभी हो जब वो हो बल संयुक्त हो और बलवान व्यक्ति में कमाई अगर बल के साथ अपनी क्रूरता आ गई तो उसका बल जो हो क्रूर हो बल जो है हो गया सूर्य के समान सूर्यवंश में वे केतु के समान मैंने सूर्यवंश में लिए भगवान राम उनके और कोई नहीं और वे भगवान भगवान राम ही तो इसीलिए उन्होंने भूत पठाए कभी देखी तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे कल्याण के लिए उन्होंने भूत भेजा तुम समझते हो बड़े कमजोर इसलिए भूत भेजा हमने तुम्हारी माँ समझी भगवान पर करके जब इसको सदबुद्धि आ जाए क्यों मारा जाए क्यों सदनाश को क्यों उसके दिन सदनाश हो ऐसा समझ करके उन्होंने शिक्षा देने के लिए उसको भूत अभी जहाँ भूत की बात आ गई अंगत की अंगत की जो पूजा का है उसकी बात सभा मांग से ही बल सब बल मता और उस अंदर ने क्या किया सभा में आकर तो के सबके सामने सभा मान के माने तो सकले तुम्हें बोले थे तुम्हारे सामने कितने हजार लोग बैठे हुए तुम्हारी सभा में उनके सामने तुम्हारा बल बता कि तुम्हारे पद तुम्हारा जितनी सत्य थी वो तुम्हारी सत्य सत्य की सिद्ध कर तुमको सत्य ही सिद्ध कर दिया और कई बड़े उम्र के पति जहाँ और तुम्हारे इतने छात्रों के बीच में ऐसे बैठा रहा जैसे की अपनी जो संभव है सब इन हाथियों का डरता नहीं चाहे हाथी हो उनके बीच में से जो है पूरा अपनी हो तो जाएगा और उन सबको खाली कर ऐसे वो तुम इसी तरह से तुम छात्रों के बीच में आया और निर्भय होकर के और तुम्हारे सारे बल को उसने मंथन कर दिया तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमने कोई शक्ति नहीं है और फिर भी तुम अपने आप को सबसे खाली माने बैठे तुम्हारी गुरु बुद्धि है जो कोई नहीं लगती तुमसे तो तुम्हें कोई अनुमान नहीं लगा पाते देखो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली दूर तो का दूतों का जो सामने होगा वो क्या दूतों का नहीं होगा क्या हैं से बांटे वीर से बांटे इसलिए समझे कि वो दोनों जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण वो ऋण बांट रहे ऋण में मैंने जरा भी वो उनका बाल माता होने वाला है वो गीता के साथ वाले हैं बड़ी बलवान है बड़े वीर है बड़े शक्तिशाली है उनकी शक्ति के ऊपर विश्वास करें और तेज हमको तुम बार बार समझते हो कि मनुष्य मनुष्य ऐसा तुम बार बार बोलते रहते हो ये तुम्हारी कितनी आश्चर्य की बात जिनको समझ नहीं आता तुम्हारे सामने जितना शक्तिशाली है उसके साथ तुमने तुमने जगह के साथ खड़ा कर लिया और लड़ाई खोल ले ली उसके साथ कितना भयंकर तुम्हें गलती काल के वक्त मन उपज में बोला और ऐसा लगता है कि काल के वक्त में हो रहे हो इसलिए तुम्हारे बोल भी समझ अब भी समझ में नहीं आता कि कल रात के बाद हमारा तुम्हारा दिमाग के समय आ गया है काल के वश हो इसलिए मन के वश में कठिन संसार में भी जैसे की बात हुई संसार में प्रकार के लोगों को होता है लोग कभी कभी ऐसे कार्यों में भर जाते हैं जिसके कारण उनका विनाश होता है लेकिन वो अपने अहंकार के कारण अपने मत के कारण से ऐसे कार्य कर देते लोग समझाते भी हैं कि तुम ऐसा न करो देखते तो उत्तेजना आ जाती है उत्तेजना आ और उत्तेजना से बच्ची भूत भूत करके क्रूर कर्म करने लगते उसके बाद में कल्पना को वही सारा उनको जब काल जाता है तब व्यक्ति की उसकी बस हमको बताओ काल कहाँ है काल तो हमारे बस में बस हम दे दी समझाती है देखो काल कैसे तो अपना कार्य करता है काल आता है मनुष्य का लेकिन काल ऐसे नहीं आता जैसे कोई आदमी जिनका लिए लाठी भी चला रहा है तो आपका भी देखो वो काल आ रहा है लाठी भी चला रहा है ऐसे काल नहीं आता काल को एक काल को तो आप अपने अंदर एक सूक्ष्म भाव करके उसको देखो ज्ञान की दृष्टि से काल को समझने की कोशिश करो देखो कि आपके जब काल आएगा तो आपको तो आपको दिखाई देना बच्चों मतलब को देखो ये काल आ रहा है आपको बने दिखेगा जब वो काल दंड जो काल ने मारा काल दंडा लेकर के लाठी लेकर के कहीं किसी को नहीं मारता मारता कैसे है अरे ये धर्म फल वो जीवित आ रहा व्यक्ति का जीवन इसी के ऊपर है धर्म के ऊपर बल के ऊपर बुद्धि के ऊपर विचार के ऊपर जब तक मनुष्य में विचार रहता है बुद्धि रहती बल रहती है धर्म रहता है तब तक व्यक्ति का जीवन है और यहाँ काल धारण कर लिया चौदह सौ संतानवे से मुख्य ने चौदह प्राणियों को गिना दिया था अंदर ने उन चौदह प्राणियों में से देखो जन्महीन व्यक्ति को भी वहां बताया था नाम कर बलहीन व्यक्ति जो है वो अत्यधिक वृद्ध है या रोगी त्याग है बलहीन है वो ही प्रतितुल्य है और जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसको विचार में स्वतंत्रता समझना है वो ही प्रतितुल्य है और जो विचार उसकी सामर्थ्य समझना है वो ही प्रतितुल्य है ये सब ये मरण के नाम से समान ही है और इनको मरते तक देर भी नहीं लगती ऐसे व्यक्ति मरेगा इसलिए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए

जब किसी को काम निकट आ जाता है इस प्रकार से वो किसी के बल बुद्धि विचार का नाम कर लेता है पास आ जाता है काल तो उस व्यक्ति को क्या होता है जिसको ही धर्म हो तुम्हारे नाम उसको भी धर्म ऐसे ही हो जाता है जैसे तुमको हो जाता है तो कहने का तरीका देखो आप वही बात बोली जाती है लेकिन एक बात कैसे बोली जाती है दूसरी कैसे बोली जाती है बोलने का एक तरीका जैसे मंदिर कैसे बोलती है ये नहीं कहते कि तुम्हारे सामने काल आ गया है तो तुम मरोगे ये नहीं कहते जिसके सामने काल आ जाता है और उसका जिसका भी विनाश होने होता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है उसकी बुद्धि में क्षमा जाता है जैसे आ जाता है जैसे तुम्हारे है क्या हुआ उसके बाद जैसे तुम्हारे बुद्धि में भ्रम आ गया तो तुम्हारा चालक तुम्हारे निकट आया तुम्हारा विनाश होने वाला बात यही लेकिन ये ग्राउंड से नहीं कहते तुम्हारा विनाश हो जाएगा तुम्हारा चालक के पर हो सीताकरण कर दिया मैंने ठीक किया और धर्म के उसके विपरीत किया रावण को जो भी समझ में आता है वो उसका धर्म है विपरीत बुद्धि उसकी धर्म के मैंने उनका सूझने लगता है जहाँ पानी भरा है वो दिखाई देगा कि कपाल जमीन हाथ लगी हुई ये तो कोई सरोवर है और उसमें पानी भरा और पानी की बाहरी टाइप फैली हुई है कैसा सुंदर लाम कैसा चला जाए लॉन्ग के ऊपर हाँ, क्या होगा पांच हाँ, मुठी उड़ेगा हाँ। मत गर्म हो जाता है मरुस्थल में जाए जहाँ पानी में पानी वाली चमक रही है उसे दिखाई देता है पानी भरा हुआ पानी भरा दिखाई देता है पानी पीछे दौड़े और गर्मी के दिनों में वहाँ पर धूप के समय में क्या प्यासा व्यक्ति अगर उस पानी के पीछे दौड़ेगा तो क्या तो मरेगा और क्या मरेगी उसकी और वहीं कहीं गिर गिरा कर तो मर जाएगा पानी को मिलेगा तो ऐसे जब गिरा बुद्धि आ जाती है तो उल्टा दिखाई देता जितनी फल उत्पन्न हो जाता है हाँ, तो देश तो मरे गए पूरे अजय पूरे पीछे दे देखो कि तुम्हारी विपरीत बुद्धि के कारण इतनी हानि तो हो चुकी एक तो लंका नगरी में आग लग गई तो सब अनाज में जाने से देखो नगरी कच्चा देखा हो गई अब इतने दिनों में कोई लंका से रोते थोड़े हो गई थी लड़की में कि सब जहाँ जहाँ आग लग गई थी सबके सबके भवन बन जाए और सब सही हो जाए अपने लंका को चमकने चमकने लगे जहाँ कहाँ चले मकान जहाँ कहाँ चले सब दुकान सब पड़े हुए अभी देख लो लंका जली पड़ी हुई तुम्हारा जहाँ कहाँ लोगों ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लिया कर लिया बाकी पड़ी हुई कर लिया और देश मरे तो तुम्हारे देखते देखते अक्षय कुमार और प्राप्त ये दोनों को तो तुम्हारे मारे गए तो बहुत हो गया इतना विनाश बहुत है अब इतने से पूरी समझ लो कि पूर्ति हो गई विनाश अब आगे विनाश के लिए तुम आगे कदम मत बढ़ाओ अगर वो पूर्व किए देव पूर्व किए देव मैं पूर्व देव तो अब समझ लो कि पूरा हो गया जो विनाश होना था अब हो गया कदम करो रात अभियान समाप्त बंद कर दो भगवान को सीता जी को वापस करो इस प्रकार से सन्यासी कहती है और कृपा सिंधु रघुनाथ भरी नाथ मन जैसे कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी का भजन करो और विमल जैसे किसी ने तुम्हारा सुंदरिय अब भी अगर तुम जो वो कृपा सिंधु रघुनाथ भगवान कृपा सिंधु है उन्होंने जैसे दूध को भेजा उस दूध की बात को मान करके सीता जी को कर वापस और भगवान का भजन करो उनकी सेवा करो उनके संग कर लो तो कहते हैं इससे तुम्हारा विमल यश होगा यश प्राप्त होगा तुम्हारा अभ्यस्त नहीं होगा यश होगा तुम्हारा राज्य बना रहेगा जीवन बना रहेगा यश भी तुम्हें प्राप्त होगा ये सब तुम्हारे लिए उपलब्धि है ये हो सकता है अब तुलसीदास ये शब्दावली रचना इस प्रकार की करते हैं जो मंदोदरी के द्वारा रावण को उपदेश दिया जा रहा है लेकिन ये न समझो की प्राचीन कथा है कभी मंदोदरी ने रावण को ऐसे उपदेश दिया होगा हमारे नहीं खत्म हो गई इसलिए ये शास्त्र है और ये मंदोदरी के द्वारा जो रावण को शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा वर्तमान काल के भी सभी लोगों के लिए जिन लोगों के लिए सिखाना है कृपा सुंदर गुनाथ भरी नाथ विमल जिस जो लोग भगवान को भूल करके ये भौतिकवादी जीवन जी करके विश्व में जीवन पढ़ करके उसका पढ़ रहे हैं और कहते परमात्मा परमात्मा कहा है कौन क्या है और संसार में अधर्म का जीवन अनैतिकता का जीवन अपने अहंकार और मार काट बुराई झगड़ा विनाश का जीवन जो जी रहे हैं उन लोगों के लिए शिक्षा कि देखो रावणी लीला तुम मत करो तुम छोड़ो इस प्रकार को और सही मार्ग पर धर्म के आचरण करो नैतिकता के मार्ग चलो भगवान को में विश्वास रखो उसका भजन करो अपने चित्र में शांत लाओ जीवन के उच्च मूल्य है उनको स्वीकार करो समाज के साथ काम में रख करके रखो सबका हित करो अपना भी हित रखो किस प्रकार के जो जीवन है उस जीवन को तुम जियो ये शिक्षा सबके लिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान शब्द इतने उसने जितना भी मंदोदर ने समझाया उसने यही दिखाया कि कोई व्यक्ति कितना भी अहंकार रखे कितना भी अपने आप को शक्तिशाली माने कितना भी अपने आप को बुद्धि माने लेकिन परमात्मा के सामने वो कुछ नहीं आसन तो भर भी नहीं है वैसे की बातें इस प्रकार का अहंकार कोई अपने बल का अहंकार करता है कोई अपनी बुद्धि का अहंकार करता है कोई अपने धन का अहंकार करता है कोई अपने पद का अहंकार करता है अनेक प्रकार के अहंकार लेकर के व्यक्ति जीवन में <clears throat> स्वेच्छाचारी होकर के और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि अंत में सब उनके अंत में बिना कहीं उनका ऐसे लोगों के अपने अपने तर्क होते हैं रावण के जैसे अपना तर्क है ऐसे संसारी व्यक्ति के अपने तर्क होते हैं उनसे कहोगे अंत में तुम ये लीला कर रहे हो तुम्हें तुम्हारा विनाश होगा कभी विनाश किसका नहीं होगा विनाश तो सभी का होता हमारा भी होगा सबका होगा हमारा तो क्या है अब आप कैसे कर देंगे अरे अन्य लोगों का विनाश होगा तो केवल ये होगा शरीर ही छूटेगा उसके शरीर के बाद कहीं की दुर्गति नहीं होगी नरक को नहीं जाना पड़ेगा मैंने शरीर प्राप्त होगा स्वर्ग प्राप्त होगा तुमको तो इस प्रकार का आचरण कर रहे हो जैसे कहा शरीर तक तो तुम्हारा विनाश हो गई होगा और उसके बाद में तुम्हारे जो गति होगी वो भी नरक भोगना पड़ेगा फिर कदम तक पक्षों को शरीर भोगना पड़ेगा तो मैं मानवीय शरीर भी प्राप्त होगा आगे तुम्हारी दुर्गति होगी शरीर को छोड़ने के बाद में भी होगी ये बिल्कुल जो है वो निश्चित बात लोगों को इस बात के ऊपर जनरली विश्वास नहीं होता जैसे रावण जो है विश्वास नहीं करता था ऐसे संसारी व्यक्ति भोगवादी व्यक्ति ये लोग जो है जल्दी विश्वास नहीं कर पाते कि हमें परमात्मा के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए कैसे शांत चित्त होकर के एकमात्र परमात्मा को सर्वशक्ति मान मान करके और वही अपना विश्राम स्थल है वही हमारी अंतिम शरण है वही जाकर के हमारे अपनी स्थिति बिताना चाहिए इसी में रहना चाहिए उसी रह करके और बड़ा अहंकार मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया और मैंने ऐसा कर लिया दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता और उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया और दूसरा कुछ नहीं जानता उसमें भी कोई बुद्धि नहीं है उसमें भी कोई बुद्धि नहीं है मेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो मैंने देखो ये भी कर लिया मैंने देखो ऐसा भी कर लिया ऐसे ही भक्त भक्त संसार में करते हैं उनका जीवन निराधार जीवन उसके तो जीवन में कुछ तथ्य नहीं रखा हुआ इस प्रकार की बात जो वो हो मंदोदरी जैसे समझाते उसी बात को ध्यान में रखना चाहिए ये हितकारी बात तब उसके बाद में देखेंगे कि मंदोदरी जो समझाना समझा दिया अब हम उसके बाद में कुछ नहीं बोलता सुंद बसंत अपने जो वो हो और ऐसा सवेरे उठता है फिर रात सवार चला जाता है उसके कोई उसका उत्तर नहीं उसके पहले तो समझाता था आपका रहा और उसके बाद फिर देखेंगे कि दूसरा दिन हो जाता है दूसरे दिन युद्ध की तैयारी होने लगती है मैंने ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है भगवान श्री राम जी सुबेद पर्वत पर पहुंच गए जिस दिन पहुंचे उस दिन रात में विश्राम हुआ और दूसरे दिन अंदर को भेजा गया अंदर दिन भर रावण की सभा में रहे संध्या काल पर लौट करके भगवान राम के पास आ गए वो दिन भी व्यतीत हो गया अब उसके बाद जो अगला दिन आता है बस वो अगला दिन युद्ध का प्रथम दिन युद्ध प्रारंभ हो जाता है उसके बाद तो उसकी कथा आगे तक प्रारंभ होगी युद्ध की जो भूमिका आती आपकी वो पूरी हो जाएगी रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च समानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपं भवनिर्भरामि श्रीराम जय राम जय जय राम राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय